पत्नी का पति में निरख इतना प्रेम अनन्य पुलक उठे रघुवंश मणि बोले देवी धन कह सकता कौन तुम्हें अब यह तुम निश्चर कुल की दारा हो तुम लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो सत का प्रभाव पड़ता ही है कब किसके रोके रुकता है तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है यह कहकर संकेत से मंगा लिया वह शीश देने को उद्यत हुए जभी कौशल धीर आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव मुझे एक संदेह है रघुपति करुणा शिव पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भात लिख सकती है जो बात प्रकृति के हैं विरुद्ध वह नहीं जचाए जचती है लंकेश क्षमा करना मुझको यह संशय है उपहास नहीं लंका वाले मायावी हैं हमको उनका विश्वास नहीं कहा विभीषण ने तभी यद्यपि है यह ठीक सीधी होती है नहीं समर नीत की ली फिर भी मेरा यह कहना है संशय का इसमें नाम नहीं यह धार्मिक जग की बातें हैं संग्राम नीति का काम नहीं नारी के प्रतिव्रत का बल अनहोने भी कर सकता है प्रतिव्रत यदि हो उठे प्रबल तो ईश्वर भी डर सकता है उत्तर में सुग्रीव तब बोले हे रघुराय यह है तो इसका में परिचय भी मिल जाए इस समर स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं विश्वास न गुप्त जगत पर है प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं जिसने सत वहाँ दिखाया है वह चमत्कार दिखलाए हम हाँ। हो जाएगा विश्वास हमें यदि से सहस जाए हम हाँ। आहस देखा शीश भी मत कर ये संदेह बोले वह संसार में बड़ी वस्तु है नीम प्राणेश्वर के कटे शीश आ गए बात पतिवत पर ठठान उड़े इस विधवा काम बट्टान कहीं जाए सत पर आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ इन टूटे हुए चुड़ियों की मिट्टी में मिले न लाज हम आदेश तुम्हारे पर आए रामादल में यह नारी है अब लोग हसाई हुई यहाँ तो मेरी नहीं तुम्हारी है क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन क्यों मेरी हंसी कराते हो ऐसे भी हंसी नहीं अच्छी पंचों में हंसी कराते हो आ गई आ गया परीक्षा कायव सर हंस दे मेरे सरताज के सर आ गया परीक्षा कायव सर हंस दे मेरे सर ताज के सर अटके है नाम किनारे पर हंस दे मेरे सरताज के सर आ गया परीक्षा खाए सर हंस रहे हैं क्यों इस जगत के नर हंस रहे हैं क्यों धरती अंबर तू हंस कर इन सब को चुप कर हंस दे मेरे सरताज के सर तो के बल पर हंसता था तो सुरमंडल पर हंसता था अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर हंस दे मेरे सरताज के सर हाँ कटा हाथ भी लिखता है फिर कटा शेष भी हंसता है हंस हंस कर दे इतना उत्तर हंस दे मेरे सरताज के सर क्या हुआ शेष है कटा हुआ कर कहीं कहीं सर पर हुआ आत्मा तो है सब समय अमर हंस दो मेरे सरताज के सर कुछ पहले मैं सुध पाती तो पति को अपने बुलवाती कब होता फिर भाति समर हंस दो मेरे सरताज के सर परीक्षा आ गया परीक्षा का अवसर हंस दे मेरे सर ताज के सर अटके है नाव किनारे हंस दे मेरे सर ताज के सर आ गया परीक्षा का अवसर आ गया परीक्षा का अवसर सिर ने सोचा वह पिता वह बासुकी वह शेष हुआ यहाँ अवतीर्ण है धर लक्ष्मण का वेश कन्या हर ने कालिया बदला उसने आन मार के सके दशा कब देते जीवन दान इसे बात पर सरहसाम अट्टहास के साथ कापोटा पृथ्वी गगन उमड़ उठा जलनाथ कुछ का वह दृश्य था मुस्कुराए जगदीश झुका शीस सुग्रीव का हसा असुर काशी तभी सुनय नाने उसे तभी सुनय नाने उसे उठा लिया शानाद रघुराई को दिया फिर ऐसा आशीर्वाद हे जगदीश्वर हे कौशलपति सच्चाई जग को प्यारी है कौशल जिस तरह तुम्हारा है लंका उस तरह तुम्हारी है युग युग तक राम कह रहोगे तुम इतिहास जगत के पन्नों पर यह नाम जपेंगे भक्त सदा मन के माला के मन को पर लंका में वह आ गए लेकर पति का शेष पहुँचाने को यहाँ तक आए थे कुछ शेष बस अब केवल यह कहना है चंदन के चिता तैयार हुई वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले इस भूतल पर पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नभ मंडल पर गुप्त शक्तियों ने किया जो ही कीर्ति बखान कण कण सारी प्रकृति का गा उठा यह गान सतिया वो पति के प्रिय धाम मृत्यु लोक के दुख शोक से तुम्हें न अब कुछ काम सतिया वो पति के प्रिय धाम सती जाओ पति के प्रिय धाम कृत तुम्हारे अचल हुई है अमर हुआ है नाम बड़ी पुण्य फल से होता है यह सुंदर परिणाम सती जा वो पति के प्रिय धाम पतित जात भे पावन होते कृपा करे यदि राम ऐसे दया धाम की बोलो जय राधे श्याम पतित जाति भीम पावन होते कृपा करे यदि राम ऐसे दया धाम की बोलो जय राधे श्याम जय राधे श्याम